मैंने गाया हिंदी के अलावा अन्य भाषाओं में बंगला को छोड़ करके वो तो आपकी मातृभाषा है बहुत ज्यादा गाया मैंने जैसे आपको कोई धुन अच्छी लगी और संगीतकार अपनी पसंद का भी होता है कभी कभी कि जिनके साथ में आपकी एक ट्यूनिंग होती है लेकिन कई बार ये होता है कि किसी खास लेखक के या कवि के गीत गाते हुए बड़ा अच्छा लगता है और ऐसा लगता है कि उसमें भावों की जो गहराई है उसको अपने गायन से और उभार कर बाहर लाने में बड़ा आनंद आता है तो आ, मुझे जरा बताएंगे कि आप कौन कौन से गीतकार आपको बहुत अच्छे लगते थे मेरे ख्याल से शैलेंद्र जी उनके शब्द से कुछ खुशबू आती थी मुझे इतना अच्छा लगता था उनके तो प्यार का सागर है तेरी एक बूंद के प्यार से हम ये शैलेंद्र जी लिखा हुआ है सुन जी क्या गाँव में ये शैलेंद्र जी यानी शंकर जयकिशन के जितने गाने मैंने गाया ज्यादातर शैलेंद्र जी ने लिखा था और वैसे तो देखिए बहुत सारे गाने मैंने मजरू साहब के गाए पोइट्री मुझे बहुत पसंद है मैं जब जब गाया वो शब्द के ऊपर मैंने बहुत ज्यादा ध्यान दिया जैसा आपने पोइट्री की बात की बहुत बड़े कवि हुए हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन और जिनके बेटे ने भी बहुत नाम कमाया अमिताभ बच्चन साहब ने उनकी मधुशाला जो बहुत ही प्रसिद्ध कृति है उसका संगीतमय जो ये रूपांतरण है आपको मालूम है वो यहीं रहते थे यहीं रहते थे ये सातवा रोड पे किराए के मकान पे रहते थे उन दिनों में अमिताभ बच्चन कोई नहीं था उन दिनों में वो तो स्ट्रगल कर रहे थे इधर तो एक दिन जयदेव आया यहाँ उन्हें मतलब बंधु एक खुशखबरी देने के लिए आया हूं क्या है तुम गाओगे ये मधुशाला तो ये बात चल रही थी मुझे मालूम पड़ गया था एच एम से कुछ कुछ लोग बोल रहे थे भाई रफी साहब गाएंगे तो डॉक्टर साहब ने बोला नहीं रफी साहब नहीं गा सकते क्योंकि ये संस्कृटाइज ये है वो उच्चारण करने में जो दिक्कत होगी नहीं नहीं तो फिर बोला दूसरे एक आर्टिस्ट का नाम लिया गया वो गाएंगे तो डॉक्टर साहब ने बोला भाई एक कोई गाने वाले को गाना चाहिए जो गाते हैं तो चोज मी टू सिंह मैं डॉक्टर साहब के साथ बैठ के मैं समझने की कोशिश किया जो जो फिलोसफी ऑफ मधुशाला तो उन्होंने रिकॉर्डिंग से पहले कुछ कुछ एक्सप्लेन करके बताया ये वगैरह वगैरह सब मैं ये कहूंगा कि डॉक्टर साहब अगर ना होते तो वो उसकी जो रस है ना वो पूरी ये निकलना बहुत मुश्किल हो जाता था उन्होंने जिस ढंग से एक्सप्लेन किया सब कुछ मधुशाला की बात चली है लेकिन मधुशाला से हम अब आते हैं क्योंकि गैर फिल्मी रचना है फिल्मी रचना पर आते हैं हम चाहेंगे कि कुछ इसी के भाव के आसपास अगर कोई गीत याद आ रहा हो तो वो आप सुनवा दें नहीं तो वैसे तो नरा ऐसा है कि मैं क्या कहूं रिकॉर्ड आपके हाथ में है छांटिए और कोई बढ़िया सा गाना इस वक्त हमारे श्रोताओं को चूंकि वो इंतजार में है आपकी पसंद का गीत सुनने के लिए ये मदन साहब का बनाया हुआ गाना है जिंदगी के गम भुलाने के लिए शराब का सहारा मैंने ले लिया तरह याद आ गए मेरी आंखों में अंधेरे छा गए इन अंधेरों को हटाने के सहारा मैंने ले लिया अपनी इस लंबी संगीत यात्रा में बहुत सारे संगीतकारों के साथ में आपने काम किया कई बार इसमें जिक्र आया रोशन साहब का और मदन मोहन साहब का मैं समझता हूँ कि आपके समकालीन नहीं थे तो उनसे एक मित्रवत जो व्यवहार रिश्ता होता वो तो होता ही है और साथ ही साथ एक व्यावसायिक रिश्ता भी होता है मैं इन दोनों संगीतकारों के बारे में आपके मन के उद्गार जानना चाहता हूँ आपने इनको कैसा पाया मदन साहब बहुत रंगीला किस्म का आदमी था उनका उठना बैठना ये वो बिलीव करते थे कि भाई गाना बजना ऐसी ऐसी एक चीज है कि बहुत कुछ किया जा सकता है और वही एक आदमी थे जो ऐसे उठना बैठना और इसी बात में विश्वास करते थे कि भाई संगीत का जो कुछ यानी एसेंस ऑफ संगीत ये ये लोगों के साथ यानी डिफरेंट दर्जे के लोगों के साथ मिलने से ही मिलता है और आप देखिए मदन मोहन साहब के म्यूजिक में वो सब कुछ मिलेगा आपको झुमका गिरा रे वो भी मिलेगा आपको और पिया तेरी नजर नजर ये जो मदन मोहन की जो यानी रोमांटिसिज्म ये किसी में देखा नहीं मैंने रोशन साहब वो ही was a strict student of good music यानी वो ख्याल ठुमरी गजलें ये फोक ये सब मिल मिला के जो एक चीज वो लाते थे ना वो और फिर अनोखे ढंग से वो नोट के कॉम्बिनेशन करते थे हम तो पागल थे उनके गाने पे इन्हें उस्ताद आदमी थे वो और बहुत मेहनती आदमी थे न तो कारवां की तलाश है मुझे याद है वो रामपुर से नहीं उधर से यूपी से ये क्या नाम कवाल लोग को बुलाए थे इधर उनके प्रोग्राम सुना करते थे सुन के नोट कर करके कर करके फिर बनाना शुरू किया और साहिर साहब ने लिखा और वो बनाए वो, वो जो है ना बीच के वो कितने मेहनत किए वो ओ हो माय गॉड और फिर जब ए, हम लोग को सुनाते थे देखो यार ये ये मजा आना चाहिए वो सब वो उनकी जो गवाह लोगों की जो चीजें और हम, हम लोग को क्या मालूम था हमको मालूम नहीं था और रफी को भी मालूम नहीं था आशा को भी मालूम नहीं था लेकिन वो रोशन साहब ने सब करवाया हम लोगों से और एक एक करके आठ दस दिन रिहर्सल करके करवाया मनदा चूंकि बात कवालियों की हो रही है और एक वक्त था कि जब फिल्म में कवालियों की गूंज बराबर सुनाई देती थी और उनकी धुने हों उनके बोल हों वाकई दिल में उतर जाते थे तो कव्वालियां भी फिल्मी खासतौर से हमारे साथ में गहरे रूप से जुड़ी रही हैं और जब बातों का सिलसिला छिड़ा है आपने जिक्र किया कव्वाली का और जिक्र किया है रोशन साहब का और उन दिनों का जब कवालियों की रिहर्सल हुआ करती थी कैसे वो कवालियां बनती थी तो ये एक पूरी तस्वीर जहन में आ जाती है और क्यों ना हम फिर एक कवाली सुने और जो हमारे सुनने वालों के दिलों में भी जरा हलचल सी जाते दे कारवा की तलाश है ना तो कारवा की तलाश है ना तो हम सफर की तलाश है ना तो कारवा ना तो कारवा कारवा की तलाश है ना तो ना तो ना तो कारवा की हाँ हाँ ना तो कारवा की आ हाँ। पास है न तो हम सफर की तलाश अपना हम सफर है ना तो हम सफर की ना तो हम सफर की ना तो हम सफर की तलाश है मेरे शौक खाना खराब को मेरे शौक खाना खराब को तो भी रह गुजर की तलाश है मेरे शौक खाना खराब को तो भी रह गुजर की तलाश है जिस्म इश्क है और जान इश्क है ईमान की जो पूछो तो ईमान इश्क है तेरा इश्क है मेरी आप तेरा इश्क मैं कैसे छोड़ दू तेरा इश्क मैं कैसे छोड़ दू मेरी उम्र भर की तलाश है तेरा इश्क मैं कैसे छोड़ दू मेरी तुम जो घर की तलाश है तेरा इश्क मैं कैसे इश्क इश्क तेरा इश्क मैं कैसे इश्क इश्क एक कलाकार कई भाषाओं में अभिव्यक्ति कर रहा है जब ऐसे कोई दूसरी भाषा का गीत आपके पास में आता है हिंदी को छोड़ करके और मातृभाषा बंगला को छोड़ करके तब वो कैसे करते हैं आप उसको अपने बिल्कुल आत्मा में उतारने वाली जो बात है ये देखिए ये गुजरात के एक म्यूजिक डायरेक्टर जिनका नाम था अविनाश व्यास मेरे ख्याल से अविनाश व्यास का नाम गुजरात में सबसे पहले आता है और उनकी कविताएं उनकी गीत और उनकी म्यूजिक सारे गुजरात में बहुत पॉपुलर है तो एक मरतबा अविनाश जी ने बोला कि मन्ना जी एक गाना लिखा जो गाना आप ही गा सकते हैं गाना था करूं शू हूं फरू छू आई तई कविता करी ने मन भरी लव छू कोई ના કોઈ पूनम न चंद्र उर्मा उतारी ने रमी लो छू ब्यूटिफुल सॉन्ग यू नो उन्होंने कहा यह गाना मैं चाहता हूं कि आप गाएंगे उन्होंने क्यों इतने सारे बोले नहीं इसकी जो गहराई में जाना मैं जानता हूं ये मन्ना जा सकता है और फिर उन्होंने ये भी गवाया था मुझसे हुतु तु तु तु तु तु तु तु तु तु तु ये भी गाया जब मैं कौन सा भी लैंग्वेज में गाता हूं मैं बहुत मेहनत करके गाता हूं यानी ये नहीं चाहता हूं कि किसी ने बोला कि भाई ये देखो भूल गाया नहीं ये मुझे बर्दाश्त नहीं होता है हुआ था ये जब जैसे मैंने कहा वो मलयालम फिल्म में चेमिन में मैंने गाया मान ने वैरू बहुत मुश्किल लैंग्वेज है तो सलील और रामू हटा के मुझे रिहर्सल देखे गए और मैं जब अंदर आया हमारे म्यूजिक रूम से जब अंदर गया तो मेरे दो बच्चे हैं बोले डैडी आपने बहुत गलत गाया my wife is from Kerala तो मैंने बोला क्यों बहुत भूल गाया नहीं नहीं नहीं नहीं चलो खाना वाना खा लेते जब लेटे थे तब बोला कि जरा बोलिए तो लाइन तो बोला उन्होंने करेक्ट किया मुझे सलील को मालूम नहीं था सलील तो बिल्कुल बंगला जैसा बोल के गया उसको मैं बार बार गा के अपनी बीवी से उसको करेक्शन कराया और फिर जब, जब माइक्रोफोन के सामने मैं खड़ा हुआ तो रामू ने कहा कि दादा आप बिल्कुल बहुत सुंदर बोल रहे हैं मलयालम उन्होंने भाई I been tutored by my wife मेहनत करने से सब कुछ होता है मन्नदा प्रोत्साहन और तारीफ इसका कोई भी कलाकार भूखा होता है क्योंकि यह उसका सबसे बड़ा इनाम होता है इस तरह का इनाम पाकर आपको कैसे लगता है और उसके बाद में वो फिल्मी इनाम जो दिए जाते हैं हर बरस वो भी आपको अपने दो गीतों के लिए मिले थे लेकिन आप आपके लिए इनाम का रूप क्या है इनाम तो मिलना ही चाहिए अप्रिशिएशन है ना ये लोग ये अप्रिशिएट करते हैं और लोग बोलते हैं कि हाँ भाई अच्छा गाया इसलिए तो इनाम मिलता है ना उससे ये नहीं एनकरेजमेंट मिलता है और होना ही चाहिए वो डेफिनेटली होना चाहिए मुझे लगता है कि आप कोई भी काम करें अगर किसी ने नहीं बोला कि भाई बहुत अच्छी तरह से काम किया आपने आपको वो, वो प्रोत्साहन मिलेगा मैं जब गाने के लिए बैठता हूं वो जब गाया बोला हाय क्या गाया आपने वाह वाह वाह वाह अच्छा लगता है मुझे कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि आप खामोश खड़े हैं और ऑब्जर्व कर रहे हैं कोई बड़ी मस्ती में डूबा हुआ आप ही का गाया गीत गुनगुनाया जा रहा है ऐसे कभी क्षण आए होंगे कैसा लगता है आपको एक मरतब तो ऐसा ही हुआ था बाहर कहीं गए थे हम लोग और कोई एक एक आदमी वो ऐसे अपने धुन में वो गा के चले जा रहे थे ताल मिले नदी के जल में दन दन दा दा धा ताल द द ध द द द द द रोशन बनाए थे ये और मुकेश ने बहुत बेहतरीन ढंग से गाया था इसको अब सुनाइए ना सबको ये गाने जल में नदी मिले सागर में सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना ओहरे ताल मिले नदी के जल में सूरज को धरती कर से धरती को चंद्रमा धरती को चंद्रमा पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा प्यासी हर आत्मा उमितवारे पानी में सीप जैसे पर आत्मा बूंद छुपी किस बादल में कोई जाने ना कोहरे ताल मिले नदी के जल में नदी मिले सागर में सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना कोहरे ताल मिले नदी के जल में पर तू पहचाने गीत है पहचाने गीत है कल तक जो बेगाने थे जन्मों के मीत है जन्मों के मीत है उमित बारे कल तक जो बेगाने थे होगा कौन से पल में कोई जाने ना कोहरे ताल मिले नदी के जल में नदी मिले सागर में सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना दोस्तों अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का वो प्रोग्राम जिसका नाम है उजाले उनकी यादों के और आज लगाएगा आसमान पे आसमान पे उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या मन्ना दा आपने जैसे मोहम्मद रफी साहब ने किशोर कुमार को प्लेबैक दिया है आपने भी कभी उनको प्लेबैक दिया वो किशोर ने बनाया था ना वो गाना एक दिन और गया हाय रुकी न रुका छाया अंधियारा आया न केवल हरा एक दिन और शैलेंद्र ने लिखा था ये गाना ये किशोर के लिए मैंने कहा था किशोर ने बनाया था ये गाना दादा आप जिस भूमि से जुड़े रहे कर्म भूमि तो आपकी मुंबई रही और मैं समझता हूँ कि वैसे तो बंगाल से आपका रिश्ता है और बहुत सारे लोग वहां से आए खासतौर से फिल्म जगत में चाहे वो बंगला फिल्म जगत हो हिंदी का हो उनका बहुत ही उल्लेखनीय योगदान रहा तीन तो नाम ऐसे संगीतकारों के तो अब जैसे सचिन दा हैं तो हेमंत कुमार हैं फिर उधर सलील चौधरी साहब हैं देखिए सलील वो वो एकदम बिल्कुल जीनियस थे कवि गुरु रविन्द्रनाथ के बाद नजरुल के बाद सलील का नाम आना चाहिए इतना जबरदस्त गाने वो लिख के गए ये तो बात सही है कि सलील आ, फोक से शुरू किया था फोक सॉन्ग से फोक म्यूजिक से और सलील की कंपोजिशंस की बेस ही है फोक म्यूजिक आपने कभी सलील की मलयालम पिक्चर चेमिन के गाने सुने नहीं सुने आपने मैं तो बोलता हूं कभी सुनिए वो यशुदास ने गाया था और सुशीला बेहतरीन बेहतरीन उसमें मैंने भी एक गाना गाया था मान असमय ने वरु मधुरम नुल्ली तेरू निन्नारुमपू वाड़ीलते ब्यूटीफुल सॉन्ग न जाने क्यों रामू कारियर साहब जो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे उन्होंने मुझे चुना था बाकी सारे गाने यशुदास यशुदास गाया था बहुत सुंदर गाया था मैं फिल्म फेयर अवार्ड के बारे में जानना चाह रहा था आपको वो भी मिल रहे हैं और ये पुरस्कार भी चूंकि बहुत प्रतिष्ठित पुरस्कार रहे हैं फिल्म जगत के इनके बारे में कुछ बताइए कि कौन कौन से गीतों पर आपको ये पुरस्कार मिले कमल जी ये पुरस्कार के बारे में जब जब मैं बोलना चाहता हूं मैं जरा जल के बोलता हूं क्योंकि मुझे ये फिल्म फेयर पुरस्कार पुरस्कार मिला ए भाई जरा देख के चलो इस गाने पे और मैं सिर्फ ए भाई जरा देख के चलो ये मैं गाया अब देखिए कस्बे वादे प्यार वफा इसमें इसके लिए किसी ने पुरस्कार नहीं दिया वो पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई पुरस्कार नहीं मिला फिर लागा चुनरी में दाग पुरस्कार नहीं मिला कितने गाने हैं मेरे झनक झनक तोरी बाजे पाए लिया जब मैंने गाया नेशनल अवार्ड मिला फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिला कई गाने ऐसे हैं जिनके लिए मैं उम्मीद किया था कि भाई अब तो मिलना चाहिए नहीं मिला मेरे ख्याल से मैं उससे बेहतर कुछ गाने और निकल गए थे और लोगों को अच्छा लगा था इसलिए नहीं मिला होगा लेकिन मुझे तो गम है उस बात की भाई ये भाई जरा देख के चलो इसके लिए पुरस्कार है दूसरे भाई के लिए बिल्कुल पुरस्कार नहीं झनक झनक तोरे बाजे पलिया जनक जनक तोरे बाजे पायलिया प्रीत के गीत सुनाए पायलिया जनक जनक तोरे बाजे पायलिया जनक जनक तोरे बाजे पायलिया प्रीत के गीत सुनाए पायलिया जनक जनक तुरे बाजे पायलिया जनक जनक तोरे बागे पाए लिया जनक तोरे बागे पाए लिया प्रीत के गीत सुनाए पाए लिया जनक जनक तोरे बाजे पाए लिया लट बिखरे तो गाल पे रे लट बिखरे तो गाल पे ठहरे होश जिया के उड़ाए पर लिया जनक जनक तोरे बाजे पाए जनक जनक तोरे बाजे पाए प्रीत के गीत सुनाए पायलिया जनक जनक तोड़ बाजे पायलिया దని సరే గని గని ని సి దని దని ద పదని మా పదని తరే గా మారే దని ప ఇంద్రధనుష్ కా लोच कमरिया बिंद्रावन की जैसे गुजरिया भाव निरत से कर दे जा तू भाव निरत से कर दे जा आग में आग लगाए पायलिया जनक जनक तोरे बाजे पायलिया जनक जनक तोरे बाजे पायलिया किसी भी कलाकार के लिए जाहिर है कि ये एक दुख की बात होती है जब उसकी कला का सही सही मूल्यांकन ना हो उसकी रचनाओं का सही मूल्यांकन ना हो लेकिन जैसे कि आज भी हम ये चलन देखते हैं कि वो चीज जो ज्यादा चलती है बाजार में या बहुत ज्यादा लोकप्रिय है वही उसकी श्रेष्ठता का आधार बन जाती है हालांकि सबका अपना अपना नजरिया होता है चीजों को देखने का उनका मूल्यांकन करने का उनकी कसौटी का लेकिन एक चीज जरूर है हम समझते हैं कि लोगों के प्यार उनकी मोहब्बत से या संगीत के जो चाहने वाले हैं उनके कदरदान हैं उनके प्यार से बढ़कर पुरस्कार और क्या हो सकता है एक कलाकार को इससे ज्यादा चाहिए भी क्या और दादा लोगों को सच्चा आनंद देने में जो खुशी है उदास हुटों पर गीत रखने में जो खुशी है और उसका जो आनंद है वो अलग ही होता है और जब पुरस्कार की हम बात करते हैं आपने भी तो पुरस्कार के रूप में बहुत ही खूबसूरत मीठे गीत लोगों की जिंदगी में बांटे हैं और आज जो फिल्म संगीत की अनमोल धरोहर बन चुके हैं बीच में आपने बातचीत में जिक्र किया था एक गीत का लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे मुझे याद है ये फिल्म मैंने देखी भी थी और गीत तो वाकई आज भी जब कहीं सुनो तो ऐसे लगता है कि कदम थम जाते हैं रुक जाते हैं और इस गीत की थिरकन के साथ हम भी थिरकने लगते हैं हमारा तन मन थिरकने लगता है और मुझे याद है कि ये गीत है फिल्म दिल ही तो है से तो आइए क्यों न सुने यह गीत और एक बार फिर से इसके सुरों में खो जाए आनंदित हो आ... चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे घर जाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग दिया कोरे बदलती कोरी दिया हो गई मैली मोरी चुन दिया कोरे बदल बदलती कोरी दिया हाँ जाके बाबुल से नजरे मिलाऊं कैसे घर जाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग सब वचन विदा के खो गई मैं ससुराल में आके भूल गई सब वचन विदा के खो गई मैं ससुराल में आके हाँ जाके बाबुल से नजरे मिलाऊं कैसे घर जाऊं कैसे लागा चुन दिनदार कोरी चुन दिया आत्मा मोरी मैल है माया जाल कोरी चुन दिया आत्मा मोरी मैल है माया जाल वो दुनिया मोरे बाबुल का घर ये दुनिया ससुराल हाँ जाके बाबुल से नजरे मिलाऊं कैसे घर जाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे घर जाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग कोरी चुनरिया आत्मा मोरी मैल है माया जाल कोरी चुनरिया आत्मा मोदी मैल है माया जाल वो दुनिया मोरे बाबुल का घर ये दुनिया ससुराल हाँ जाके बाबुल से नजरे मिलाऊं कैसे घर जाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग దీం తన నదిర్తాను తన్నదెరె నదీం తన నదిర్తాను తదెరె నదీం తన నదిర్తా నుం తదెరె నదీం నదెరె దెరె తన దేరే తన తుంద్ర తద్దారె తారె దాని దీం తన నన నదిర్దెరె దొరుదుర్దర దాని దాని దాని దాని దీం తన నదిర్తాను తన్నదెరె నదీం తన నదిర్తా నుం తదెరె నా సప్త సురన తీన గ్రామ బన్సి బాజి రత తని తని నిద నిద దప మగ మధ గమ మగరత ధాద కృత ధాద కృత ధాద కృత చరణ ధరణ ధరత పాగ పరత నై పరన ఝర ఝన के झन नन नन नन నాదుడు దీం తను నన్న నన్న తన తన నదీం తన నదుడు తాను తాన నదేన నదీం తన నదుడు తా నూన్ తదేన నదీం తన నదుడు తా dim tana na dir tanum tana dere na dim tana na dir tanum tana dere na dim tana na dir tanum tana dere na dim tana na dir tanum tana dere na dim tana na dir tanum दादा दरा किसी गायक का संगीत से वही रिश्ता होता है जैसे रूह का जिस्म से होता है और वो आपके भीतर आपके मन में रचा बसा है और ये कहते हैं ना कि आप सुबह उठते हैं तो संगीत पीते हैं शाम को सोते हैं तब भी संगीत ही होता है दिन में भी संगीत की ही साधना चलती रहती है और पूरा जीवन ही संगीतमय हो जाता है संगीत के बारे में काफी बातें की हमने और आपने अपनी पसंद के नगमे भी सुनवाए पूरा प्रोग्राम भी संगीतमय हो गया लेकिन दादा संगीत के अलावा भी हम समझते हैं कि आपके कुछ शौक होंगे जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं और उन रुचियों के साथ में आप अपना वक्त जो थोड़ा बहुत बच जाता है कभी कभी बिताना पसंद करते होंगे तो हम जानना चाहेंगे अपने श्रोताओं की ओर से कि आपकी वो रुचियां वो शौक कौन से हैं खाना यानी मैं खुद पकाता हूँ हाँ हाँ पकाता हूँ और एक्सपेरिमेंट करता हूं पकाता क्या हूं एक्सपेरिमेंट करता हूं यानी कभी पहले पहले से बोलता नहीं हूं कि क्या पकाने जा रहा हूं वो पकने के बाद देखा जाता क्या पका और आप तो मुझे देख के आप ये मालूम कर सकते हैं कि भाई मैं एक्सरसाइज करता हूं बहुत माशाल्लाह ये बात तो क्या कहना और कोई देख के कहेगा नहीं वैसे बिल्कुल छप्पन के नजर आते हैं हाँ, आप लोग बोलते हैं आपके कॉलेज में पढ़ाते हैं क्या प्रोफेसर है <laughs> खैर हाँ और खेला करता था बहुत cricket and football and wrestling हाँ रेसलिंग किया था और एक्सरसाइज अभी भी करता हूं और कम खाता हूं पीता नहीं हूं और एक चीज मैंने ये मालूम किया कि दूसरों के बारे में जो सोचना है ना वो बिल्कुल नॉर्मल है मेरा कि एक आदमी जैसे रफी साहब क्यों इतना अच्छा गाते हैं किशोर कुमार क्यों इतना बड़ा आर्टिस्ट है लता मंगेशकर जिनके बराबर में कोई आर्टिस्ट नजर नहीं आता है क्यों ऐसा होता है मैं ये मान लिया कि भाई इन लोगों ने कुछ काम ऐसा किया जो हम कर नहीं पाया हम इतना अलग नहीं है बिल्कुल यही विनम्रता यही तो बड़प्पन है मैं समझता हूं कि कोई व्यक्ति कलाकार तो कितना भी बड़ा बन सकता है अगर वो एक अच्छा इंसान नहीं है तो कोई मतलब नहीं तो ये दोनों चीजें हम तो कह रहे हैं कि हम अपने श्रोताओं से यही कहेंगे कि हम जिस मन्ना डेर से मिले हैं उसकी शख्सियत में और उसका दोनों एक कलाकार एक अच्छे इंसान का ऐसा संगम है जिसे सोने पे सुहागा कहते हैं मेरे पिताजी कहते थे मेरे चचा जी कहते थे कि देखो जिंदगी में पहले तो पढ़ाई उढ़ाई करो पढ़ाई कर, करने के बाद तब चूज करना क्या वोकेशन क्या क्या करना है तुमको ये करो लेकिन एक बात याद रखना जिंदगी में अगर कोई चीज भी तुम डिजर्व ना करो तो डिजायर नहीं करना पहले डिजर्व करो फिर डिजायर करना ये अभी तक मैं ये सोचता हूं अगर मैं अच्छा गाना गाना चाहता हूं तो मुझे रियाज करना पड़ेगा इसलिए मैं हमेशा जिनके पास सिखा हूं हमेशा उन्होंने कहा कि अब्दुलरहमान खान साहब खुद आकर बोला मैं तुमको सिखाना चाहता हूं और देखिए कभी कभी मैं इधर जाता हूं मैं तीन म्यूजिक डायरेक्टर को मैं असिस्ट करता हूं ठीक है सुबह कहा हो तो शाम को आ जाऊंगा शाम को कहा हो तो दोपहर को आ जाऊंगा रोजाना आते थे खान साहब मुझे सिखाने के लिए और इसलिए सिखाने के लिए आते थे कि मुझे मुझ में वो चीज उनको नजर आई मुझे कि भाई ये लड़का ये सीखेगा और गाएगा और गा सकता है मन अनमोल और हृदयो तब मानव तू मुख से बोल उत्तम शरणं गच्छामि तब मानव तू मुख से बोल उत्तम शरणम् गच्छामि शरणम् गच्छामि च्छा सङ्गण गच्छा चन्द्र शान्तिकारा हे लभूता भाग हे की सहज रहे बोल सब मानव तू मुख से बोल बुद्धम शरणम गच्छामी तब मानव तू मुख से बोल बुद्धम शरणम गच्छामी बुद्धम शरणम गच्छामी मैं अब चाहूंगा कि ये मुलाकात के हम आखिरी चरण में आ पहुंचे हैं लेकिन वैसे तो आपसे विदा लेने का वक्त चाहता नहीं हमारा मन नहीं करता है इतनी मीठी बातें हुई इतनी अच्छी बातें हुई लेकिन अपनी तरफ से हम चाहेंगे कि आप हमारे सुनने वालों के लिए उनसे हमने बहुत सारी उनकी तरफ से भी बातें पूछ ली अपने मन की बातें भी पूछ ली कोई ऐसी बात जो आपके दिल में रह गई हो आप कहना चाहते हो अपनी तरफ से तो आप कहिए भाई और बहनों कहूं क्या मेरा दिल भर आ रहा है कि आप इतने देर से मुझे सुन रहे हैं ये ये मेरी खुश नसीबी है कि मुझे ये मौका मिला आपसे बात करने की और इतने सालों से जो मैं गा रहा हूं और आप लोगों ने जो मुझे बर्दाश्त किया इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद मन्ना आपको शायद खबर हो ना हो लेकिन ये जरूर है कि जब भी किसी कान से आपका कोई गीत किसी दिल में उतरता है तो जरूर ये दुआएं निकलती हैं कि ये कलाकार दीर्घायु हो और इसी तरह से अपने स्वर सरिता के माध्यम से हम सबको स्नान करवाता रहे अमृत का और इसी तरह से हमें आनंद देता रहे आपने हमें इस प्रोग्राम के लिए वक्त दिया इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं हालांकि दिल तो नहीं चाहता कि हम यहां से जाएं आपको छोड़ें इतनी आसानी से क्योंकि जो सिलसिला बातों का चला था वो हमें एक ऐसी दुनिया में ले गया था कि कुछ देर के लिए हम भी ऐसे लगा कि उसी जमाने में पहुंच गए हैं उन्हीं कलाकारों के बीच पहुंच गए हैं आपकी यादों का धामन थाम कर बहरहाल आपसे इस खूबसूरत बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हम अपनी ओर से अपने सुनने वालों की ओर से और विविध भारती की ओर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आपके दीर्घायु होने की कामना करते हैं और ये भी कामना करते हैं कि संगीत की ये साधना आपकी यूं ही जारी रहे और यूं ही आप अपने मीठे में उठाते रहे नदिया चले चले रे धारा दिया चले चले रे धारा चंदा चले चले रे तारा तुझको चलना होगा तुझको चलना मन कहीं भी ठहरता नहीं है जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है आधी से तूफान से डरता नहीं है तू न चलेगा तो चलते भी राह तू न चलेगा तो चल तरसेंगी तेरी निगाहें तुझको चलना होगा तुझको चलना होगा तुझको चलना होगा तुझको चलना होगा हो नदिया चले चले रे धारा चन्ना चले चले रे तारा तुझको चलना होगा तुझको चलना होगा तुझको चलना होगा तुझको चलना होगा इस प्रोग्राम में आप सुन रहे थे फिल्म जगत के सुप्रसिद्ध और वरिष्ठ पार्श्व गायक मन्नाडे से ली गई भेंटवार्ता का दूसरा और अंतिम भाग इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग और निर्माण में तकनीकी सहयोगी थे प्रकाश चौहान दिनेश दाभूलकर विनायक तडवलकर और मानिकराव गायकवाड़ प्रस्तुति सहयोग रमेश गोखले का था और विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया शकुंतला पंडित ने अब दीजिए इजाजत अगले रविवार को हम आपकी भेंट करवाएंगे फिल्म जगत के किसी और सितारे से उसी प्रोग्राम में जिसका नाम है उजाले उनकी यादों के बाकी छह दिन होते हैं छह और मजेदार प्रोग्राम यानी हर दिन सुनते रहिएगा बेचारा